एकादश मंत्र हो गया था द्वादश मंत्र में टीका में अंगुष्ठ परिमाणम जीवम अनोद्य ब्रह्म भाव विधानाद विद्यमान विरोधाद अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षितत्वाद ब्रह्म परमेव वाक्यमित्याह सर्वम ब्रह्म सर्वम खलुदम ब्रह्म चांदोग्य में श्रुति सर्वम ब्रह्म अयम व्याकरण इस वाक्य में एक होता उद्देश्य एक होता विधेय प्रसिद्ध को उद्देश्य करके अप्रसिद्ध अज्ञान का विधान किया जाता है अयम करके व्यक्ति को दिखाते अयम व्याकरण अयम वैद्य तो सामने दिखते हैं आदमी कोई है किंतु वैद्य है मालूम नहीं है तो इसको उद्देश्य करके अयम कहकर इस व्यक्ति को उद्देश्य करके वैद्य व्याकरण न्यायिक ऐसे विधान किया जाता है अपूर्व का बोधन अपूर्व का ज्ञान कराने के लिए वाक्य उच्चारण किया जाता है जो ज्ञात है उसको बोलने के लिए नहीं ज्ञात का अनुवाद किया जाता है अज्ञात का बोधन किया जाता है सर्वम ब्रह्म इस प्रकार सर्वम कुछ विधान नहीं किया जाता सब कुछ एक करे सब कुछ दिखता है जो सब कुछ दिखता है वो सर्वम ब्रह्म सर्व को उद्देश्य करके ब्रह्म का विधान किया गया एक अद्वितीय ब्रह्म ही है सर्वम ब्रह्म तो यहाँ सर्वम ब्रह्म में सर्वम अनेक दिखता है नाम रूपात्मक दिखता है उसका विधान नहीं ये तो प्रसिद्ध दिखता है नाम रूपात्मक अनेक दिखता है उसको उद्देश्य करके विधान करते हैं ब्रह्म है तो हां जो समानाधिकरण होता है कहीं मुख्य समानाधिकरण होता है अयम व्याकरण द्विजोत्तम ब्राह्मण मुख्य समानाधिकरण जो द्विजोत्तम है ब्राह्मण है किंतु ये सर्वम ब्रह्म में इसको कहते बाध समानाधिकरण सर्प रज्जु सर्प रज्जु में इस प्रकार सर्प सब देख रहे डर रहे भाग रहे कहते सर्प रज्जु है जिसको तुम सर्प समझते हो सर्प नहीं किंतु रज्जु है सर्प को उद्देश्य करके रज्जु का विधान किया जाता है सर्प वास्तव नहीं भ्रांति सिद्ध सर्प उद्देश्य होता है और अपूर्व रज्जुत्व का विधान किया जाता है वो रज्जु है अर्थात सर्प नहीं रज्जु है इसी प्रकार सर्व नाम रूपात्मक नहीं किंतु ब्रह्म है इसी प्रकार आगे मंत्र में अंगुष्ठ मात्र परिमाणम जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधानात अंगुष्ठम परिमाणम यस्य अंगुष्ठ परिमाण वाला ये अंगुष्ठ है परिमाण वाला हृदय इतने बड़ा है सबका अपन इतने बड़ा है हृदय में आकाश बुद्धि अंतकण रहते है अंतकण में उसकी अभिव्यक्ति होने से ब्रह्म के भी अंगुष्ठ परिमाण कहा गया जीव अंगुष्ठ परिमाण जीव वहाँ अभिव्यक्त होता है बुद्धि चिदाभास है अंगुष्ठ परिमाण जीव का अनुवाद करके उसको ब्रह्म कहा गया जो जीव अंगुष्ठ परिमाण हृदय में है अहम अहम जानते हैं जीव चेतन है हृदय में अंतकण है अंतकण में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है उसी चिदाभास के कारण ही जीवत्व व्यवहार होता है तो सिर्फ जीव का परिमाण अंगुष्ठ परिमाण कहा हृदय परिमाण हृदय चित्र इतने बड़ा है उसके अंदर आकाश है वहाँ अंतकण है तो अंगुष्ठ परिमाण जीव का अनुवाद करके अनुवाद करके उसको ब्रह्म विधान किया गया वही ब्रह्म है जिस पर जिसको तुम रज्जु सर्प समझते हो वही रज्जु है जो अंगुष्ठ परिमाण ब्रह्म तुम समझते हो अंगुष्ठ परिमाण समझते हो वही ब्रह्म है जो बुद्धि का साक्षी है वही ब्रह्म है हृदय में बुद्धि है बुद्धि को प्रकाश करने वाले चेतन ही ब्रह्म है जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधानात जीव का अनुवाद करके ब्रह्मत्व का विधान किया आगे श्रुति में विधान कण से विद्यमान विरोधात विद्यमान है ब्रह्म व्यापक जो अंगुष्ठ परिमाण वाला छोटा वो ब्रह्म कैसे होगा जब विद्यमान ब्रह्म विधान किया जाता है उसका विरोध होने के कारण जिस प्रकार सर्वम ब्रह्म सर्व को उद्देश्य करके ब्रह्म विधान किया गया ब्रह्म नाम रूप रहित है तो सर्वम को उद्देश्य करके ब्रह्म कहा गया अर्थात नाम रूप रहित ब्रह्म का विधान होने से ये जो सर्व में नाम रूप दिखता है वास्तव नहीं है यदि वास्तव हो तो ब्रह्म के साथ एकत्व तो कैसे विधान होगा सर्व को अनुवाद करके ब्रह्म विधान किया गया इसका अभिप्राय जो नाम रूप अनेक भेद दिखता वो वास्तव नहीं है यहाँ भी इस प्रकार जीव अंगुष्ठ परिमाण वाला जीव का अनुवाद करके ब्रह्म तो विधान किया विद्यमान हो गया ब्रह्म व्यापक उसका विरुद्ध होता है जब ब्रह्म व्यापक होगा तो ये अंगुष्ठ परिमाण जीव कैसे होगा वो जीव जो अंगुष्ठ परिमाण उसमें अंगुष्ठ परिमाण विवक्षित नहीं है उसको ले करके ब्रह्म कहा गया वास्तव ब्रह्म ही है इसे परिचिन्न नहीं है अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षितत्वात् रज्जु सर्प नहीं सर्प रज्जु यहां सर्प विवक्षित नहीं है सर्प तो तुम देखते हो भ्रांति से वो सर्प का अनुवाद किया गया वास्तव रज्जु है वहां सर्प है ही नहीं सर्प विवक्ष वक्तुमिष्ट नहीं सर्प को नहीं बताते कि सर्प है देखो करके सर्प है करके जिसको सर्प समझते हो रज्जु है इसीलिए अंगुष्ठ परिमाण है ऐसा विधान करने का नहीं हृदय में होने से जो अंगुष्ठ परिमाण रूप से भान होता है मानते हो वह ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म है इसलिए अंगुष्ठ परिमाण विवक्षित नहीं है क्योंकि विद्यमान ब्रह्म का विरोध होता है विद्यमान ब्रह्म व्यापक व्यापक हो तो परिमाण अंगुष्ठ परिमाण विवक्षित नहीं तो फिर अंगुष्ठ आगे जो श्रुति वाक्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया उसका क्या अभिप्राय ब्रह्म परमेव वाक्य त्या ब्रह्म में उसका तात्पर्य है व्यापक ब्रह्म ही है अंगुष्ठ परिमाण में तात्पर्य नहीं है वो तो अनुवाद करने के लिए कह दिया जैसे सर्प रज्जु सर्प में तात्पर्य नहीं सर्प तो भ्रांति सिद्ध सर्प का अनुवाद किया गया इसी प्रकार अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव का अनुवाद करके ब्रह्म तो विधान करने से आगे का श्रुति वाक्य ब्रह्म पर कहे पुनरपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म भगवान भाष्यकार कहते फिर वही प्रकृत जो ब्रह्म है जिसको नचिकेता ने पहले पूछा था एम प्रीत विचिकित्सा मरने के बाद अस्तित्व है कि नायम अस्तित्व इस संशय है आगे फिर नचिकेता ने पूछा था यह अन्यत्र धर्म आद अन्यत्र अधर्माद धर्म अधर्म कालते से विलक्षण प्रकृत ब्रह्म जिसका निरूपण उपदेश किया जाता है यमराज के द्वारा उसको फिर यमराज कहते अथवा नचिक श्रुति कहती है ब्रह्म आ अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानम भूत भव्यस्य न विजुगुप्सते एतद्वै तत् अंगुष्ठमात अंगुष्ठम अंगुष्ठमात्रम अंगुष्ठ परिमाणस्य अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष मध्य आत्मनि आत्मनि मध्य तिष्ठति शरीर के मध्य में स्थित है देह में है वो देह के अंदर बुद्धि में अभिव्यक्त होने से वहाँ है हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय में उसके अभिव्यक्ति होने से वहाँ है सर्वव्यापक होने से है हृदय में भी है छोटे से छोटे के अंदर भी है बाहर भी है छोटे के छोटे अंदर है क्या था बाहर नहीं यह अभिप्राय नहीं है बाहर भी है ईशान भूत भव्यस्य ईशान ईश्वर है भूत अतीत भव्य भविष्य वर्तमान सब का तीनों काल का ईश्वर है शासक है स्वयं काल परिचिन्न नहीं उसको जानने पर न ततो तो बीजगुप्सते जो ऐसे साक्षात्कार कर लेता है तो फिर यो अपने किसी से गोप अपने रक्षा करना भय आदि नहीं रहता तो रक्षा करना नहीं चाहता है जन जान लेता है तो एतद वेतत यही वह तो तुमने जो पूछा था यही तत्व है अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ परिमाण वाला है अंगुष्ठम परिमाणम यस्य अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरिकम तत्छिद्रवर्ति अंतकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्रु अंगुष्ठ मात्र वंश मध्यवर्ति अंबरवत हृदय पुंडरिकम अंगुष्ठ परिमाण हृदय पुंडरिक कमल हृदय कमल कमल के सदृश हृदय तत्छिद्रवर्ति अंतकण उपाधि हृदय है उसके अंदर छिद्र है छिद्रवर्ती छिद्रे वर्तते छिद्रवर्ती हृदय के अंदर छिद्र है उसके अंदर रहता है अंतकर्ण अंतकर्ण उपाधिरस्य स उपाधि ही अंतकण उपाधि का जीव रहता है अंतकण उपाधि का अंतकरणम उपाधिरस्य जीवस्य हृदय रहता अंगुष्ठ मात्र जीव को कहा गया अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र वंशम पर्व मध्यवर्ती अंबरवत वंश वांश ही वांश का एक एक पर्व होता है ग्रंथि एक एक ग्रंथि एक ग्रंथि दो ग्रंथि के बीच में एक पर्व है अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व वंश के पर्व कहीं ग्रंथि छोड़ छोड़ कर कहीं लग लग करे कहीं बहुत लंबा लंबा इतने इतने ग्रंथि है कहीं इतने इतने छोटे-छोटे होता है तो अंगुष्ठ वंश पर्व एक इतने बड़े ग्रंथि है वंश पर्व वांश के पर्व अंगुष्ठ मात्र है उसके अंदर खाली स्थान रहता है आकाश रहता है वंश पर्व मध्यवर्ती वंश पर्व अंगुष्ठ परिमाण वंश पर्व के मध्य में जो आकाश रहेगा कितने बड़ा होगा 6 इंच एक फुट एक कितना होगा इतना ही होगा उसके छोटा होगा अंगुष्ठ परिमाण जितने बड़ा पर्व है उसके अंदर होगा जिस प्रकार वंश पर्व के मध्य में रहने वाला आकाश उसके बराबर है इसी प्रकार अंगुष्ठ परिमाण हृदय पुंडरिक में रहता है जो अंतकण उपाधि कवि इतने परिमाण पुरुष उसको पुरुष कहा पुरुषे पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरुष जिससे सब कुछ पूर्ण व्यापक है पुरुष शब्द का अर्थ व्यापक है पूर्णम अनेन सर्वम सर्वत्र व्यापक है पुरुष वहाँ उसकी अभिव्यक्ति होती है मध्य आत्मनि तिष्ठति मध्य आत्मनि का तो शरीर है आत्म शब्द का प्रयोग कहीं शरीर में कहीं अंतकरण में कहीं आत्मा में तो यहां आत्म शब्द शरीर तिष्ठति यस तम आत्मानम ईशानम भूत भव्यस्य विदित्वा न तत विजिगुप्सते जो जान लेता है तम आत्मानम उसे आत्मा को जान लेता है जो पूर्ण पर ब्रह्म है वही आत्म रूप से हृदय में स्थित है जो कि ईशानम भूत भव्यस्य ईश्वर है अतीत भविष्यत वर्तमान तीनों काल का उसको जानने पर विदित्वा न तत विजिगुप्सते उसे फिर रक्षा करना नहीं चाहता है जब तो भय मध्य में स्थित है अपनी रक्षा करना चाहता है जब जान लेता अहम अस्मि इसी प्रकार ज्ञान पूर्ण ब्रह्म व्यापक उसे मेरे से भिन्न कुछ यही नहीं तो किससे रक्षा करेगा कौन रक्षा करेगा किस कारण कुछ नहीं है आनंद रूप से रहता है यही आत्म तत्व तत्व है एतद वेतत किंच आगे भी अंगुष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशान भूतभव्यस्य स एवाद्य सौ श्वः एतद वेतत वही मात्र पुरुष ज्योतिरिव प्रकाश के समान अधूम कह धूम परक नहीं है धूम धूम अविद्यमान धूम से अधूम का अज्ञान नहीं है प्रकाशमान है ईशान भूत भव्यस्य तीनों काल का ईश्वर है स एव अद्य सौ श्वः आज भी ये है काल को भी रहेगा कोई चेतन को कहते क्षणिक ज्ञान तो मानते हैं विज्ञानवादी बौद्धों क्या के मतलब विज्ञान ज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश मानते हैं स्थिर नहीं रहता है किंतु जो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है जो उत्पत्ति नाश वाला वो सो अनित्य मिथ्या है कोई सत्य नहीं है सैव अद्य सौ शोकन से हमेशा रहने वाला काल परिच्छिन्न नहीं है आज ही काली कण से हमेशा रहने वाला है त्रिकालातीत काल से तीनों काल उसमें कल्पित है एतद वेतत ये आत्मतत्व तुमने जो पूछा अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधुमक अधुमकम अधुमक पुल्लिंग है ज्योतिरिव अधुमक तो वहाँ पुरुष पुल्लिंगन से अधुमक पुरुष हुआ क्यों ज्योति जो है नपुंसकों से अधुमकम ज्योतिरिव अधुर्मकम ज्योति के समान धूम रहित ज्योतिष परत्वात् ज्योतिष का विशेषण है ज्योति से ज्योति शब्द नपुंसक है उसका विशेषण होने से अधुमकम ज्योति ही यह अधुम धूम के बिना ज्योति प्रकाश है यस्तु एवं लक्षितो योगी भी हृदय एवं लक्षित योगी भी ऐसे लक्षित होता है योगियों के द्वारा योगी शब्द योग शब्द सुनते ही केवल आसन प्राणायाम ध्यान नहीं रखना दो योग है गीता में कर्म योग ज्ञान योग यहाँ गीता में बार-बार चल रहा योग तो ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्माकार वृत्ति यही योग है अन्य वृत्ति को छोड़ करके चित्त वृत्ति निरोध योग है अन्य वृत्ति को छोड़कर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करने वाले योगी ऐसे हृदय हृदय और केवल वेदांत श्रवण नहीं करके केवल ध्यान करने पर अंदर देखेंगे ऐसा नहीं तो योगियों के द्वारा लक्षित हृदय हृदय ईशानो भूतभव्यस्य भूतभव्य योग समाधि अनुष्ठान करने पर साक्षात्कार होता है हृदय में त्रिकाल का त्रिकालातीत सबका ईश्वर सैव नित्य कुटस्थो वही नित्य कुटस्थ है कुटस्थ नित्य अद्य इदानीम प्राणिषु वर्तमान सौ सोपि वर्तिष्यते अभी भी है सर्वत्र विद्यमान प्राणी में वर्तते सौ प्राणी में अभिव्यक्त होता है सौ सोपी काल को भी वही रहेगा वर्तिष्यते नान्य अन्य नहीं आज जो है काले वही है कोई चैत्र है आज है सो गया जगने के बाद वो चैत्र रहेगा दूसरा हो जाएगा वही एक ही तत्व है उसमें कोई नहीं कभी कोई संशय नहीं करता है मैं काल था या नहीं था आ, काल को रहूंगा नहीं रहूंगा वही है दूसरे को संशय नहीं करता अपने को नहीं और प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला होगा तो सोकर उठना क्या बैठता है तो भी परिवर्तन हो जाएगा एक क्षण में चैत्य दूसरे क्षण में दूसरा हो गया देखा घटों को देखा मुख में लड्डू देखा खाने के लिए मुख को लेते लेते दूसरा हो गया और खाने के बाद पूछा क्या है मीठा मीठा कहने वाला और तीसरा हो जाएगा खाने वाला तीसरा कहने वाला चतुर्थ <laughs> ये हो जाएगा फिर पेट खराब होगा और किसी का <laughs> क्योंकि पेट खराब के समय नहीं रहेगा तो फिर कोई छोड़ेंगे नहीं सब खाएंगे खाते जाओ पेट खराब होते समय नहीं रहेंगे पेट खराब होते समय रहते तो भी खाते समय कोई खा लेते हैं जानते पेट खराब हो सकता है तो भी चलो खा लो किन जब निश्चित हो जाए कि हमारे पेट खराब नहीं होने वाला तो खा लो तो ये प्रतिक्षण अलग-अलग कहते हैं वो ठीक नहीं वो नित्य है आज भी काल को है सौ सौ वर्तिषते नान्य और उससे सम अन्यश्च जनिष्यते उसके समान अन्य उससे समान कोई अन्य उत्पन्न होगा ऐसा नहीं अनेन नायम इति चैके इत्ययम पक्षो न्याय तो अप्राप्तो भी स्ववचनन श्रुत्या प्रत्युक्त तथा क्षणभंग वादश्च वादश्च आगे क्या कहना पड़ेगा प्रत्युक्त क्षणभंग वादश्च प्रत्युक्त प्रत्याख्यात ये नायम अस्तिति चैके हेयम प्रेत विचिकित्सा पहले प्रारंभ हुआ मरने के बाद संशय है कोई कहते हे आत्मा मरने के बाद कोई कहता नहीं है नायम अस्तिति चैके कुछ लोग कहते नहीं है मरने के बाद रहता नहीं मरने के बाद यदि नहीं रहेगा इसी में जो कुछ कर्म क्या पुण्य पाप कर्म करेगा तो उसका फल भोग करते समय रहेगा नायम अस्ति जो मानते उनके मत में रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो जो कर्म किया फल नहीं दिया कर्म नष्ट हो जाएगा कर्म करेंगे फल देकर नष्ट हो जाएगा तो उसको कहते कृत हान कृतस्य कर्म से हान कर्मण हान कृतस्य कर्मण हानम त्याग कर्म का त्याग क्या है कर्म भोग दिए बिना नष्ट नहीं होता है केवल ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होगा नहीं तो नाकृतम चयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि जितने कल्प चले जाए तो कर्म भोगना पड़ेगा यदि मरने के बाद आत्मा नहीं रहे कर्म किया बड़े प्रयत्न करके पुण्य कर्म याग आदि करते हैं अथवा कोई निषिद्ध कर्म करता है उसके लिए भी प्रयत्न करता है पाप कर्म करता है तो आगे उसको फल भोगना पड़ेगा कर्म करते समय जैसे पुण्य कर्म करने वाले जानते इसको हम भोगना पड़ेगा पाप कर्म करने वाले भी जानते हैं नहीं जानने पर भी जानना चाहिए नहीं मानने वाले भी मानेंगे यमराज के दूत जब आ जाएंगे उस समय नहीं कहीं हम नहीं मानते कोई अभी गलत काम करे पुलिस जब आएगा क्या हम नहीं मानते तो पुलिस नहीं मानते तो कुछ नहीं बोलेंगे नहीं क्यों बोले नहीं मानते तो क्यों बोले लाठी से बता देंगे लाठी दो चार लग जाएगा तो हाथ जोड़ कर कहेगा हम हाँ, मानते मानते इसी प्रकार यमराज के दूत है वो भी बात नहीं करते हैं उनके पास लोहे के डंडे तो पुण्य पाप कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है यदि मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा तो कृतहान कर्म फल देना बिना नष्ट हो गया और बाकी यदि मरने के बाद नहीं रहेगा तो जन्म के पहले भी नहीं था आ, कोई जन्म हुआ अभी शुरू से सुख दुख भोग करता क्यों कर्म कुछ किया नहीं नहीं कर्म करके सुख दुख भोगना कभी नहीं होता है जो सुख भोग करता है दुख भोग करता है उसका असाधारण कारण अपना पुण्य पाप कर्म कभी भी सुख मिलता है तो आपका पुण्य कर्म किसी जन्म में किया था असाधारण कारण वो सुख देने के लिए कुछ निमित्त बना देगा कोई किसी प्रकार आपको सुख साधन प्राप्त हो जाएगा कोई व्यक्ति भी उपकार कर लेगा प्रेम से बात कर लेगा और जब आपका पाप कर्म फल देने के तैयार हो जाएगा वही व्यक्ति विरोध में कुछ बोल देगा डांट कर बोल देगा दुख साधन प्राप्त हो जाएगा वो निमित्त सबको इकट्ठी कर लेगा वो कर्म में सामर्थ्य है कर्म मुख्य है असाधारण कारण वो यदि पाप कर्म फल देने के लिए लागेगा तो सब निमित्त उसके लिए साथ साथ पीछे पीछे आ जाएंगे अपने बंधु को भी शत्रु बना देगा पाप कर्म जो बंधु है प्रिय है वो भी उस समय कुछ थोड़ा टेढ़ा बोलेगा और आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कभी कभी बंधु अच्छा बोलता है तो भी आपको खराब लगेगा पाप कर्म फल देता है तो किसी की बात अच्छा नहीं लगेगा उस समय तो ये अपने पुण्य पाप कर्म फल भोगना पड़ता है यदि जन्म के पहले आत्मा नहीं था अभी जन्म हुआ तो क्या होगा नहीं किए हुए कर्म फल भोगना पड़ा छोटे बच्चे को ही सुख दुख भोगना पड़ता है कभी भूख लगते है रोता है बच्चा कभी कष्ट होता है तो रोता है कभी पान दूध पान कर लिया प्रसन्न होकर खेलता है हंसता है तो ये जो सुख दुख भोग करता है पहले कर्म नहीं क्या हुआ नहीं यदि पहले था अभी आया अकृत अभ्यागम दोष कहते नहीं क्या हुआ कर्म फल भोगता है ये दो दोषों के अकृत हान अकृत अभ्यागम ये आपत्ति है यदि जन्म के पहले आत्मा नहीं था मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा तो कृतहान अकृताभ्यागम दोष प्राप्ति है इसलिए ये दोष प्राप्ति होने से ये इसको नहीं मानते आस्तिक लोग कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा तो कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा और कर्म विधान करना निषेध करना इतने वेद शास्त्र आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे इसलिए वो नहीं मानते हैं ये सिद्ध है आत्मा जन्म के पहले था मरने के बाद रहेगा इसलिए भाष्य में दिया न्याय तो अप्राप्त भी अस्तित्व अस्तिति चैके इत्ययम पक्ष न्याय तो अप्राप्त भी न्याय से प्राप्त सिद्ध नहीं होता है कि नहीं है मरने के बाद मरने के बाद नहीं रहेगा तो कृतान अकृत अभ्यागम दोष प्राप्ति होती है इसलिए न्याय से ये प्राप्त तो नहीं कि मरने के बाद नहीं रहेगा ऐसे नहीं मानते बहुत साधारण लोग ही मानते हैं कहते पाप करेगा तो कागे नरक जाएगा पाप से डरते हैं पुण्य पाप कर्म पशु पक्षी लोग नहीं डरते हैं उनको मालूम नहीं है इसी प्रकार कोई मनुष्य नहीं मानता है तो पशु पक्षी के बराबर है किंतु बहुत लोग साधारण लोग ही मानते हैं तो हम क्यों पाप कर्म करेंगे क्यों ऐसा दूसरे धन क्यों लेंगे क्यों झूठ बोलेंगे ऐसे है न्याय से प्राप्त ने अप्राप्त है कौन अप्राप्त है नाय मस्तिति मरने के बाद आत्मा नहीं है ये पक्ष प्राप्त नहीं है न्याय से सिद्ध नहीं होता तो भी तो भी कोई लोग नहीं मानते थे श्रुति है न श्रुत्या प्रत्युत श्रुति अपने वचन से उसका निराकरण कर खंडन कर दिया असैव अद्य सौसो आज भी है काल भी रहेगा कौन से नित्य है हमेशा अद्य सो कह देने से आज है काल को काल को फिर क्या कहेंगे अद्य शैव सो काल का दिन अद्य कहेंगे फिर आगे सो फिर आगे शैव दशय सो ऐसे सो अस्पद्य कहेंगे तो हमेशा ही रहता है अभी आज है काल को रहेगा काल उठने के बाद क्या कहेंगे आज है काल को रहेगा फिर ऐसे कि जितने कल्प आद्य सौ सो नित्य है ये नित्य कह करके श्रुति द्वारा ये प्रत्याख्यात हो गया जो मानते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहता है और जो कहते प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है वो तो दूर से खंडित हो जाता है क्षण बाद क्षण भंगवाद बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद योगाचार मते तो संति मतयस तासाम विवर्तो अखिल प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला कहते प्रतिक्षण नष्ट होता है क्षणिक बौद्ध मत सौ क्षणिक है सब क्षणिक जो कहते क्षणभंग क्षणभंगवाद क्षणभंग कथन वो भी निरस्त हो गया श्रुति के द्वारा स्व बचाने से क्योंकि सैवद्य सह स्व तो प्रतिक्षण नाश होने वाला मत भी ठीक नहीं है पुनरपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मण आह ब्रह्म में भेद दर्शन करना उसकी निंदा भेद दृष्टि करने पर मृत्यु से मृत्यु में आपने पहले कहा भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए भेद स्वप्न में दिखता है वास्तव नहीं है जागृत में भेद जरूर दिखता है किंतु वास्तव नहीं पारमार्थिक नहीं है यदि शास्त्र श्रवण कर नहीं करके पशु पक्षी जैसे जैसे दिखता उसको सत्य मानते मन से वैसे मान करके सारा जीवन उसे बिता दिया तो पशु पक्षी के बराबर हुआ शास्त्र श्रवण करके शास्त्र मत ग्रहण करके भेद वास्तव नहीं सत्य पारमार्थिक अद्वितीय है ब्रह्म और उसके लिए दृष्टांत स्वप्न सपने में भेद दिखता है सत्य लगता है सुख दुख होता है तो भी जगने के बाद निश्चय होता है नहीं कुछ था मैं अकेले था उसी दृष्टांत से आप विचार करके बार-बार अपने जागृत अवस्था में भी ऐसे विचार ये स्वप्न चल रहा है सपना प्रपंच सब मिथ्या है जितने ज्ञेय पदार्थ जिसको अपना शरीर मानते हुए मिथ्या है इसी प्रकार अभी भी जागृत में जिसको हम दृश्य मानते हैं जिस शरीर हम अपने अपना स्वरूप मानते ये सब सपन प्रपंच के अंतर्गत सब मिथ्या है ये भी सब मिथ्या है इसे मान करके एक अद्वितीय तत्व का स्वरूप निर्णय कर अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसा नहीं करके जो भेद दृष्टि करता है उसकी निंदा की जाती फिर भेद दर्शन का अपवाद ब्रह्म में क्या करते हैं यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् स्थाने वानुविधावति यथा दुर्गे वृष्टम उदकम दुर्गम देश में बड़े पर्वत शिखर में चोटी में जहाँ जाना मुश्किल लिए वृष्टम वर्षा हुआ पर्वतेषु विधावती यहाँ पर्वत का तो पहाड़ नहीं पर्व वाले पर्व वर्षा हुआ पर्व वाले नीच देश में वत्सु तप पर्व मरुद्भ्याम पर्व से तप होकर पर्वत बना ये पर्वत होगा पर्व वाला निच्च देश निम्न देश में दौड़ता है दुर्गे उदकम वृष्टम दुर्गम देश पर्वत को वर्षा हुई वो पर्वत सुखाता नीचे स्थान में दौड़ जाता है पानी विदावति चल जाता है निम्न प्रदेश में दौड़ जाता है जा के कहीं कहीं छोटे स्थान में जम गया फिर सूख जाता है कहीं जाकर नदी में मिल जाता है एवं धर्मान पृथक पश्यन इसी प्रकार धर्मान आत्मा को धरत इति धर्म इसको आत्मा को पृथक पश्यन भिन्न भिन्न देखता हुआ अलग अलग आत्मा को जब भिन्न भिन्न मानता है ता अनु तान एव अनुविदावति ये भेद आत्मा को फिर प्राप्त करता अनु पश्चात के बाद फिर उसके पीछे ही से भेद आत्मा को प्राप्त करता है भेद दृष्टि करने वाले भेद को प्राप्त करेगा तान एवं अनुविदावत अनुकात पश्चात मरने के बाद फिर उसको ही प्राप्त करेगा भेद शरीर को प्राप्त करेगा जन्म वर्ण को प्राप्त करेगा भेद दृष्टि करने वाला अभेद दृष्टि करने वाला अभेद ब्रह्मात्मक हो जाएगा भेद दृष्टि करने वाले भेद को प्राप्त करेगा ये स्वभाव से ही जैसे पानी नीचे बह जाता है भेद दृष्टि करने वाले भेद को ही प्राप्त करेगा यथो उदकम दुर्गे वृष्टम दुर्गे क्या था दुर्गम देशे दुर्गम देश है दुख से गमन जिसको होगा उच्चते ऊपर पर्वत की चोटी पर्वत के आसपास तो पर्वत में रहते किंतु और ऊपर चढ़ना और जाना ऊपर में दुर्गम है ऊपर उन्नत देश में उच्चा में वृष्टम वृषुसेचन सिक्तम वर्षा हुई तो पर्वत से विधावती पर्वत से कहा था पर्ववत्सु पर्व आगे त पर्व से तप हुआ प्रत्यय तप मरुद्भ्याम इति तप बनता मरुत और पर्वत बनता है पर्व वाला मत्व अर्थ में पर्व वाले पर्व वाले निम्न देश में नीचे देश में विधावती विकीर्णम सद विनशति सब चल जाता है पानी बह जाता है नीचे जाकर के जाकर के नष्ट हो जाता है एवं धर्मान पृथक पश्यन धर्म को पृथक देखता हुआ यहाँ धर्म सदृश आत्मन दधते धर्म आत्मन धारण करने वाला धरते धर्म यही आत्मा ही सबको धारण करता है इसलिए धर्मान आत्मन पृथक वचन आत्मा एक है वस्तु तो सर्वभूत में किंतु अलग-अलग अंतगण उपाधि के वैसे आने अनेक भान होता है उसको लेकर बहुवचन पृथक वचन भिन्नान पृथक पश्यन अलग-अलग समझ जो दिखता है पृथक एव प्रतिशरीरम पश्यन एक ही आकाश घट के अंदर मठ के अंदर करक कमंडल गुफा के अंदर आकाश अलग-अलग लगता है इसी प्रकार प्रति शरीरम पृथक पश्यन ये सामान्य देखते सब आत्मा चैत्र मैत्र सब बैठे सब अनेक है अनेक दिखता ही है तो प्रति शरीरम पृथक पश्यन वन विधावती अंताने सर्व वर्तिन अनुविधावती सर्व भेद को अनुवर्तन करने वाला आत्मा सर्व वेदम भेदम अनुवर्तते शरीर के भेद से आत्मा भिन्न भिन्न लगता है अनेक शरीर है तो अनेक आत्मा वस्तुतः आत्मा तो एक बिंब रूप चेतन एक है जिस प्रकार चंद्र एक है हजार करोड़ घड़ा में पानी भर दिया प्रतिबिंब सब में दिखता है लगता है सब घड़ा में चंद्र है अनेक लगता है बिंब रूप एक है अनुवर्तन सर्व भेद से भिन्न भिन्न लगता है आत्मा चिदाभास दिखता है एक आत्मा का प्रतिबिंब सब अंतकण में है एक ही आत्मा आपका स्वरूप है उसका प्रतिबिंब सब के अंतकण में है सब के अंतकण जीव चेतन अलग-अलग लगते हैं प्रतिसर भेद जो दिखता है उस सारे भेद का अनुवर्तन करने वाले पीछे उसको ही प्राप्त करेगा वही अनेकत्व को प्राप्त करेगा भेद को प्राप्त करेगा सर्व भेदमेव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते वही है भिन्न भिन्न सर्व को बार-बार प्राप्त करेगा जन्म मरण और हमेशा ही मनुष्य बन जाएगा गंगा तट पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है मरने के बाद मनुष्य बनेगा या भेड़ बनेगा या कीड़े मकोड़े बनेगा पेड़ पौधे बनेगा या ऊंट बनेगा कोई निश्चय है नरक जाएगा स्वर्ग जाए कोई निश्चय नहीं है और कहाँ मनुष्य बनने पर ही मनुष्य कितने प्रकार मनुष्य ऐसे रहते हैं किसी पुण्य के कारण बहुत पुण्य से मनुष्य जन्म और इसे पवित्र स्थान प्राप्त होता है ये कोई बहुत को प्राप्त नहीं होता है जीव कितने मालूम है कितने जीव है असंख्य अनंत है कितने है दिखते नहीं खाली मनुष्य नहीं पशु पक्षी केवल नहीं कीड़े मकोड़े कितने ये आप जा रहे हो तो वहाँ चिंटी कितने हैं देखो चिंटी कीड़े मकोड़े कितने हैं इसी प्रकार सारे जल में आकाश में पेड़ में सर्वत्र पहाड़ में पहाड़ में पहुंच जाओ मिले मिलेंगे <laughs> मच्छर <laughs> अच्छी तरह से बैठ जाओ मच्छर आकर के गिर जाएंगे सोचे हमारे लिखा दे आ गया <laughs> समष्टि भंडारा सब इकट्ठे हो जाएंगे ये कितने कीड़े मकोड़े सब स्थान पर है अनंत जीव है पानी में भी कितने हैं जो दिखते हैं तो इतने जो नहीं दिखते और कितने वैज्ञानिक यंत्र में दिखा देंगे देखो कितने है पानी पीते हो पानी में दिखा देंगे कितने किलो उसमें दिखते हैं पानी छान करके वस्त्र से वस्त्र पुतम जल जलम कहा गया इतने छोटे-छोटे थे तो वस्त्र में भी छानना मुश्किल है सब में बहुत जीव बहुत है एक बार मर जाने पर वो इतने जीव में कहां बनेगा कहां क्या कर्म है जो कीड़े मकोड़े है पशु पक्षी है वो भी कभी मनुष्य थे ऐसे कर्म किए थे वो कर्म का फल भोगने के लिए अभी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे बने हैं इसी प्रकार ये जीव जो अपने कोई है कितने जन्म से क्या-क्या कर्म करके बैठा है अभी मनुष्य जन्म किस प्रकार मिल गया और संचित कर्म है कुछ संचित कर्म आपका है या नहीं है कितने है उसको भोगने के लिए कितने जन्म में भोग होगा अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम कोई कर्म फल देगा तो कहाँ जाकर पहुँच जाएगा अभी जो प्राप्त है उसको सोच करके उसका सदुपयोग करके सार्थक बनाना चाहिए जो प्राप्त है उसे बार-बार प्राप्त नहीं होता है सा चौरासी लाख के चक्कर में कितने भटका इसके पहले कितने भटका है इसके पहले कितने बार मनुष्य बना होगा कितने बार स्वर्ग गया होगा पशु पक्षी सब जो ने भटकने के बाद कभी मिल गया अभी मनुष्य बनने के बाद भी कहाँ कैसे मनुष्य रहते पशु के जैसे रहते कहीं तो ऐसे ही रहते बर्फ में रहने वाला जंगल में रहने वाला अभी भी है वस्त्र नहीं पहनने वाले भी अभी है कच्चा मांस खाने वाले अभी भी है विभिन्न प्रकार से मनुष्य में भी है और यहीं रहने वाले में बहुत लोग विपरीत मार्ग में चलने वाले नहीं मानने वाले कितने सब है ये जो प्राप्त है इसका ही सार्थक करना चाहिए बार-बार जन्म को प्राप्त करता है भिन्न शरीर को प्राप्त करता है भेद दृष्टि करने वाला और भिन्न भिन्न शरीर को जो प्राप्त करेगा हमेशा मनुष्य बनता है ऐसे बुद्धि वाला होता है ऐसे जरूरी नहीं है किस जन्म को प्राप्त करेगा किंतु बार-बार उसको प्राप्त करेगा जो भेद देखता है भेद देखने पर पृथक पश्चान तानेव अनुविदाते भेद दृष्टि करता है तो भेद को प्राप्त करेगा फिर जन्म को प्राप्त करेगा यही भेद दृष्टि की निंदा है यस्य पुनर्विद्यावतो उपाधिकृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मान पश्यतो विजानतो मुनेर मननशील से कथं कथम भवति यस्य पुनर्विद्यावत कोई अनेक में कोई है जो ज्ञान को प्राप्त करता है कश्चि यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानम कश्चिन माम तत्वत वेत्ति कोई जानता है तो विद्यावत विद्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य भेद होता है किसके कारण उपाधि के कारण उपाधिकृत भेद उपाधि के कारण भेद दिखता है एक ही चंद्र है अलग-अलग जल में अलग-अलग प्रतिबिंब दिखता है आकाश एक ही है घट अलग है मठ अलग है गुहा अलग है आकाश भेद होता है इसी प्रकार देहादि उपाधिकृत भेद उसका दर्शन ज्ञान होता है भ्रांति से अज्ञान के कारण स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से उपाधिकृत भेद में सत्य तो बुद्धि होती है सब बैठे अलग-अलग जीव पशु पक्षी मनुष्य जीव सब भिन्न-भिन्न है यद्यपि एक ही आत्मा ही सर्वव्यापक है सब के शरीर अंतकण उसका प्रतिबिंब दिखता है उसको सत्य मान करके आत्मा अनेक है भेद दृष्टि करता है वो उपाधिकृत भेद दर्शन विद्या से विध्वस्त हो जाता है अज्ञान के कारण ही वेद बुद्धि होती है बिंब रूप चंद्र को नहीं दे करके प्रतिबिंब को सत्य मान करके कहता है सब घड़ा में चंद्र है अनेक चंद्र है और जब बिंब रूप चंद्र को समझ लिया उसका प्रतिबिंब समझ लिया तो ज्ञान होने से सारे भेद दर्शन भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है तब एक चंद्र को समझ लेने के बाद घड़ा में प्रतिबिंब दिखेगा प्रतिबिंब दिखेगा किंतु समय मानेगा कि ये चंद्र नहीं है पहले चंद्र मानता था बच्चा कहता है घड़ा में चंद्र आप कहते हो घड़ा में चंद्र आपको जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा दिखता है किंतु समझते ये प्रतिबिंब चंद्र नहीं है चंद्र को समझ रहे आकाश का प्रतिबिंब दिखता है वह वास्तव आकाश तो नहीं है इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर सब के शरीर में अलग-अलग चिदाभास है अलग-अलग जीव जैसे लगते हैं ये तो दिखेंगे किंतु समझ लेगा ये सब नहीं है चेतन वास्तव एक अद्वितीय है ये तो चिदाभास अलग दिखता है शुद्ध चेतन सब के अंदर बाहर ही तब विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य से उपाधिकृत भेद दर्शन विद्वस्तम उपाधिकृत भेद दर्शनम यस्य ज्ञानेन ऐसे ज्ञानी के के दृष्टि से विद्यावत ज्ञान होने पर विशुद्ध विज्ञान घनेक रसम अद्वयम आत्मन पश्यत वो क्या देखता है विशुद्ध विज्ञान घनेक रसम विज्ञान का घन जैसे लोह का घन होता है नमक का घन है नमक ही नमक है विज्ञान का घन ज्ञान ज्ञान है तो चार तरफ क्या रहेगा ज्ञान के ऊपर क्या है बाएं क्या है दाहिने क्या नीचे क्या रहेगा बस और कुछ नहीं ज्ञान ही ज्ञान जहाँ भी तो ज्ञान से अलग कुछ नहीं विज्ञान का घन ऐसे नमक घन है नमक ही नमक है ज्ञान घन घन से ज्ञान सत्र तो कुछ नहीं यानी कि ज्ञान बुद्धि उसके चारित्र हृत पुंडरिक उसके चारित्र शरीर ये सब कुछ नहीं ज्ञान घन वो ज्ञान घन कैसे है विज्ञान विशुद्ध विज्ञान एक ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान शुद्ध नहीं है विशुद्ध विज्ञान है विषय नहीं केवल ज्ञान है रूप रस ज्ञान घटपट ज्ञान होता है घटपट आदि विषय विशिष्ट ज्ञान वो विशुद्ध नहीं है घटपट आदि मिथ्या है वस्तु उसको लेकर जो ज्ञान है शुद्ध नहीं जो विषय के बिना ज्ञान है ऐसे तार्किक लोग कहेंगे ज्ञान निर्विषय नहीं होता है कुछ ना कुछ विषय होगा किंतु सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म और ज्ञान रूप जो ब्रह्म है वो कोई उसका विषय नहीं है स्वयं ज्ञान रूप चेतन है न्यायिक लोग आत्मा को इसलिए कहेंगे जड़ वो ज्ञान नहीं है आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा स्वयं ज्ञान नहीं है तो आत्मा क्या कहते किसको अंतकण विशिष्ट चैतन्य तथा चिदाभास विशिष्ट अंतकण को आत्मा मान करके उसको कहते उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें वृत्ति होती है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति ज्ञान ऐसे मानते तो भी न्याय मत के अनुसार ज्ञान अधिकरण आत्मा तो कहते हैं किंतु थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जो लोग आत्मा को परिचिन्न मानते अनुपरिमाण मानते उनका खंडन करके आत्मा व्यापक सिद्ध करते तार्किक लोग न्यायिक लोग बड़े सुंदर कौशल तर्क युक्ति दे करके सिद्ध करते आत्मा व्यापक है सारे दर्शन दार्शनिक अद्वितीय ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए सोपान सीढ़ी के समान है अन्य भेद मत भेद दिखता है तो नायक लोग तो भेद भिन्न आत्मा है भिन्न आत्मा कह करके प्रत्येक आत्मा को व्यापक सिद्ध कर देते हैं व्यापक आत्मा है तो व्यापक आत्मा है तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों कहते नायक लोग है सांख्य लोग थोड़ा कहते ये आत्मा तो पुष्कर पलाश के समान निर्लेप है आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं कर्तृत्व बुद्धि आदि में है तो भोक्तृत्व कल्पना करते हैं कर्तृत्व नहीं तो वेदांती कहते जहां भोक्तृत्व है वहीं कर्तृत्व मानो भौतित्व कर्तृत्व तो एक में होगा तो फिर आत्मा में भौतित्व आत्मा में कर्तृत्व तो सिद्ध होगा पहले बोलते भौतित्व जिस आत्मा में उस आत्मा में कर्तृत्व है फिर बाद में आने की शुद्ध आत्मा ही तो भोगता होगा कोई जड़ सुख दुख तो वो नहीं करता है घटपट जड़ को सुख होता है या दुख होता है ठंडी के समय दुख नहीं लगेगा दीवार को ना सुख है ना दुख है तो फिर चैतन्य में भुक्तत्व होगा तो चैतन्य कर्तृत्व कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ब्रह्म सूत्र है पहले कर्ता सिद्ध कर देते जो सुख जीव है करता है किंतु कौन जीव करता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसको ही जीव कहते उसमें कर्तृत्व है वास्तव शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है वो कर्तृत्व उपाधि के कारण है उपाधि से ही कर्तृत्व शुद्ध आत्मा कुछ करता हुआ किसने नहीं देखा इससे जड़ को सुख दुख नहीं होता है जड़ कुछ करता नहीं दीवार पत्थर इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य सुख दुखी होता है सुखी दुखी होता है शुद्ध चेतन कुछ करता है शुद्ध चेतन में कर्तृत्व देखा है ना चेतन शुद्ध चेतन देखा है किसने शुद्ध चेतन नहीं देखा तो शुद्ध चेतन कर्तृत्व कहां दिखेगा ना तो जड़े में कर्तृत्व है ना तो शुद्ध चेतन में कर्तृत्व फिर कर्तृत्व किस में है मरुह में जल दिखता है वो जल पूछता है कहाँ है मरुभूमि में, में है या समुद्र में है मरुभूमि में जो जल दिखता है वो समुद्र में दिखता है मरुभूमि में दिखता है समुद्र में या मरुभूमि में में है समुद्र में नहीं सामने तो समुद्र ही नहीं मरुभूमि में होना चाहिए मरुभूमि तो सामने है जल है ही नहीं उसका उत्तर नहीं दें कि जल जो सामने जल दिखता है वो जल मरुभूमि में है अर्थात समुद्र में है कौन सा उत्तर ठीक है मरुभूमि है ना नहीं मरु में है नहीं दिखता है इसी प्रकार कर्तृत्व तो भान होता दिखता है किसी में नहीं है ये मिथ्या है कल्पित है शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो नहीं जैसे जड़ में कर्तृत्व तो नहीं तो ये सब विद्यावत धंत उपाधिकृत भेद दर्शन नष्ट होता है तो ज्ञान होता है विशुद्ध विज्ञान विषय रहित शुद्ध ज्ञान सत्यम अनंत ब्रह्म तो विज्ञान एक घन एक घन एक रस ही ज्ञान ही ज्ञान और कुछ नहीं शुद्ध ज्ञान विषय निरपेक्ष वो शुद्ध ज्ञान है जो आत्मा व्यापक वही ज्ञान है कर्तृत्व हो तो सांख्य लोग सिद्ध कर देते हो कर्तृत्व हो तो तो कर्तृत्व कहेंगे वेदांति कहें कर्तृत्व हो तो, है नहीं कल्पित है शुद्ध आत्मा व्यापक है व्यापक तो, तो तार्किक ने सिद्ध कर दिया अरे भेद मानते थे सांख्य में भी भेद कहते हैं क्योंकि ये भेद नहीं एक अद्वितीय है एक में अद्वितीय श्रुति स्पष्ट कहती है और अनेक आत्मा मानेंगे तो जो दोष वेदांति के ऊपर आता है सब दोष न्याय को मत में आएगा एक ही आत्मा जी सर्वत्र रहते एक भोजन कर लिया सबका पेट भर जाए एक रोता है तो सो रहे एक सुख होता है तो सबको सुख क्यों नहीं होता है ये द्वैतवादी को पूछते हैं वेदांति कहते हैं उनसे पूछ लो न्याय से पूछ लो न्यायिक लोग मानते आत्मा को व्यापक कौन सी आत्मा व्यापक मानते हैं जानते हो सब के आत्मा व्यापक है तो आपका आत्मा सबके शरीर में है या नहीं है या नहीं नायक से पूछो आपकी आत्मा सबके शरीर है या नहीं क्या कहेंगे नहीं कहेंगे मना करेंगे ज्ञान जो नहीं जानता है वो को मना करेंगे न्याय पढ़ने वाले मानने सब सर्वत्र है तो सबका सुख दुख क्यों आपको नहीं होता है उसका उत्तर न्याय को लोग देंगे वेदांति को बोलना नहीं पड़ता है वो सिखाएंगे फिर न्याय को लोग तो उनसे न्याय पढ़ो और बताएंगे आत्मा व्यापक होने पर भी सबका सुख दुख सबके आत्मा में नहीं हुआ सबका आत्मा व्यापक सबका आत्मा व्यापक आपका आत्मा सबके शरीर में है और आपके शरीर में किसके आत्मा है सबका आत्मा ही ये तार्किक लोग कहते हैं तो उनके ऊपर भी ये दोष आता है एक में सुख हो तो सबको सुख एक में दुख हो तो सबको दुख उसका समाधान वही बताते हैं वेदांति कहेंगे पहले आपस में विचार करके निर्णय करके झगड़ा करके आ जाओ बाद में हम बताएंगे झगड़ा में स्वयं क्यों उतरेंगे तुम आपस से लड़ो द्वैत हो भी द्वैतवादी तुम भी द्वैतवादी सांख्य लोग द्वैतवादी न्यायिक लोग द्वैतवादी बड़े तर्क के कुशल से हुए तर्क पर झगड़ा करने न कर लो कौन सा ठीक है तो फिर अंत में जब आएंगे कि ये सब अनिर्वचन है कर्तृत्व तो जड़ में नहीं चेतन में नहीं फिर क्या है कहाँ है बोले मिथ्या है जल है ही नहीं तो फिर कहाँ बताएंगे जो जल दिखता है मरुभूमि में है या समुद्र में ये प्रश्न का निर्णय झगड़ा करते करते अंत में जब थक जाएंगे कहेंगे जल है ही नहीं झूठा है झूठा जल कहने के बाद फिर प्रश्न होगा कहाँ है है ही नहीं तो फिर कहाँ है क्या प्रश्न होगा यहाँ कर्तृत्व तो भी वास्तव है ही नहीं तो ये जो ऐसे ही एक अद्वितीय आत्मा को जानता है आत्मानम पश्चात अद्वय एक अद्वितीय आत्मा को देखता है तो विजानत मुनेर मननशीलस्य जो मनन करने वाले ज्ञान होता है तो आत्मस्वरूपम कथम भवति उसका आत्मस्वरूप क्या होता है इसका उत्तर देते हैं आगे श्रुति में यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं निर्विजानत आत्मा भवति गौतम शुद्धे शुद्धम उदकम आसिक्तम शुद्ध जल में शुद्ध जल मिला दिया मिलाने मिलनाने के बाद जिसमें मिलाया वो अशुद्ध हो जाता है नहीं शुद्ध में शुद्ध मिलाया अशुद्ध हो जाएगा शुद्ध में शुद्ध मिलाया हां अशुद्ध मिलाया तो अशुद्ध हो जाएगा शुद्धे शुद्धम उदकम आसिक्तम डाल दिया तादृगे भवति एक हो जाता है शुद्ध ही है दोनों बराबर एक हो गया यदि एक शुद्ध है एक अशुद्ध है तो अशुद्ध भी शुद्ध कर देगा एक पानी में चीनी मिलाया दूसरे शुद्ध है दोनों मिलाएंगे तो मीठापन उसी में भी आ जाएगा चीनी हो नींबू हो महिला हो कुछ हो यह शुद्ध में शुद्ध विज्ञान से एक हो गया कुछ पता नहीं एक ही हो गया एवं मुनेर विजानता आत्मा भवति गौतम जिसको ज्ञान हो जाता है वो आत्मा अपने आत्मा शुद्ध स्वरूप है ब्रह्म शुद्ध है उपाधि नष्ट हो गया तो एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप हुआ भेद नहीं रहा एक हो जाता है मुनेर विजानता आत्मा भवति एक हो जाता है कोई भेद नहीं होता है यथ उदकम उदकम शुद्धे प्रसन्न प्रसन्न स्वच्छ जल में स्वच्छ जल शुद्ध मिला दिया शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम सेचन कर दिया डाल दिया प्रक्षितम मिला दिया एक रसमेव एक प्रकार एक ही हो गया जल नान्य था अन्य भेद नहीं रहता है दोनों एक एक ही दोनों शुद्ध है स्वच्छ है मिल गया एक हो गया भेद नहीं कोई वैज्ञानिक लोग कभी उसको अलग अलग भेदन नहीं कर सकते हाँ यदि कुछ मिला हुआ है तो भेदन हो जाएगा शुद्ध है अन्यथा है भवति उसी प्रकार आत्मा भी एवमेव भवति इसी प्रकार ज्ञान होने पर आत्मा एक अद्वितीय आत्मा है भेद है ही नहीं भेद तो उपाधि के कारण है एकत्व विजान तो मुनेर एकत्व को जो जान लिया मैं मननस्वस्य एक हो गया है गौतम एक हो जाता है ज्ञान होने के बाद ज्ञानी का भी भेद नहीं है आत्मा में किंतु भिन्न मान कर बैठा है देहादि को मान करके और जान लिया देहादि उपाधि मिथ्या है तो आत्मा का भेद को कोई पदार्थ है ही नहीं जिस प्रकार आकाश है एक आकाश सबके अंदर बाहर है विचार नहीं करने वाले कहते आकाश भिन्न भिन्न है मठ मठाकाश किंतु आकाश तत्व को समझ ले तो आकाश का भेद का कोई है ही नहीं है जो वास्तव आकाश की सत्ता जैसे पर्वत दीवाल की सत्ता ऐसी समान सत्ता वाले आकाश का भी भेदक नहीं होते आकाश जिस सत्ता का उसी सत्ता का दीवाल है उसी सत्ता का कुठार अग्नि आदि ये कोई आकाश को भेद नहीं करते काटते नहीं जलाते नहीं और ब्रह्म का भेदक होने के लिए ब्रह्म पारमार्थिक है उससे भिन्न कोई पारमार्थिक नहीं सब कल्पित कल्पित कुठार क्या नष्ट करेगा वास्तव कुठार से आकाश का खंडन होगा ना नहीं वास्तव कुठार से यदि आकाश का खंडन नहीं होगा और कल्पित तो कुठार से क्या खंडन होगा वास्तव अग्नि से आकाश नहीं जलता है और कल्पित तो अग्नि गुंजा पुंजा पल लाल लाल फल लेकर के फूको आकाश जल जाए ना नहीं वास्तव से नहीं जलता तो कल्पित से क्या होगा वास्तव खड़ग से कोई आकाश नहीं काट सकता है और कल्पित खड़ग से क्या काटना वो तो कल्पित खड़ग नृत्य में देखा लेकिन कुछ नहीं कटेगा स्वयं टूट जाएगी इसी प्रकार एक ही तत्व है भेद है ही नहीं है अज्ञानी ज्ञानी का तस्मात कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक कुदृष्टि च उज्जित्वा मातृपितृ सहस्यभ्योपि हितैषिणा वेदनुपदिष्टम आत्मिकतो दर्शनम शांत दर्पे आदरणीयम इत्यर्थः इसलिए यही भगवान भाष्यकार उपदेश करते कुतार्किक भेद दृष्टिम कुत कुत्सित तार्किक कुतार्किक ये श्रुति विरुद्ध तर्क करने वाले उसको कहीं कुतार तार किएगा तर्क तो ठीक है किंतु श्रुति मूल प्रमाण है उसके विरुद्ध तर्क होता है कुत्सित तर्क इसे कुतार की के भेद दृष्टि को छोड़ करके तर्क करने वाले कहते सुख दुख भिन्न है इसमें सुख इसमें दुख इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न है एक में सुख दूसरे में दुख है इसलिए आत्मा दो हो गया और यहाँ कोई कहता है क वहाँ कोई कहता है ख तो आकाश दोनों भिन्न भिन्न है ना नहीं कोई यहां कहता है ह य व रट कोई उच्चारण करता है वहां कोई कहता है ख प च ठ त शब्द भिन्न भिन्न होना नहीं इस उसका आश्रय आकाश तो भिन्न है तारके वाले से पूछो अलग शब्द है यहाँ वहाँ अलग शब्द तो उसका आश्रय आकाश भी नहीं है क्या तो एक में सुख दुख यहाँ सुख वहाँ दुख तो आप भेद क्यों हो जाएगा अब मानो तो भी क्या होगा सुख दुख का आश्रय आत्मा है क्या सुख दुख का आश्रय अंतकण सुख यहाँ दुख है तो उसका आश्रय अंतकण भिन्न हो गया आत्मा के साथ क्या संबंध है पर्वत में धूम देखकर कोई अनुमान करता पर हृदय वन्यमान हृदय में वन्य है क्योंकि धूम दिखता है व्याप्ति बताता है नहीं पढ़ने वाला डर जाएगा तर्क संग्रह हृदय वन्यमान धूमवत्वात् यत्र तधूम तत्र वन्यता मानसम जो नहीं जानता डर लेगा क्या-क्या बोलते करके समझने वाला दिखता है पर्वत में धूम दिखता है वन्य से दिखता है हृदय में इसी प्रकार सुख दुख अंतकण में अरे भेद करता आत्मा का तार्किक कुत्तार्किक भेद दृष्टि को छोड़ करके और नास्तिक कुदृष्टि नास्तिक क्या कहते आत्मा क्या है किसने देखा है आत्मा क्या प्रमाण है बस जो नहीं दिखता है नहीं नहीं दिखता नहीं कहे तो यही कीड़े मकोड़े यहाँ त्रियाणु को दिखता है अभी दिखता है सूर्य किरण आ जाएगा तो दिखेगा अब पूछो अभी पहले नहीं दिखता तो अभी दिखता है तो अभी आ गया बाहर से पहले नहीं था नहीं दिखता है तो है और अभी दिखता है तो आ गया नहीं तो नहीं अभी सूर्य किरण बंद हो गया तो नहीं दिखेगा और सूर्य किरण आ जाएगा तो बीच में छोटे-छोटे कण दिखते हैं नहीं दिखता है तो नहीं से बात नहीं और मधुरपन मीठा दिखता ना नहीं तो दिखता नहीं तो मानेंगे उसको हाँ वो कहेंगे किससे इंद्र से ग्रहण होता है ज्ञान होता है और जिसका ज्ञान नहीं होता नहीं कहेंगे तो इतने कितने वस्तु है आपको मालूम नहीं है नहीं है कहेंगे है आपके पीछे कौन खड़ा है पता है पिशाच खड़ा है कहेंगे डर डर लगेगा <laughs> डरते हैं ऐसे नास्तिक कुदृष्टि जो चौज्जित्वा नास्तिक है जो कुदृष्टि है विपरीत दृष्टि भ्रांत दृष्टि इसको छोड़ करके एक एक कुतार्किक का भेद दृष्टि और नास्तिक कुदृष्टि आत्मा है नहीं उसको छोड़ करके उज्जव विसर्गे ये श्रुति कहती है मातृ पितृ सहस्रभ्यपि सुना माता पिता कितने हो गए मालूम है कितने जन्म में माता पिता तो माता पिता सहस्र क्या होगा सहस्र क्या करोड़ों माता पिता हो गए पर सब जन्म में कोई भी अद्वैत तत्व का उपदेश करने वाला नहीं है संसार को रुकाएंगे माता पिता कहाँ लगाएंगे संसार में यही माता यही पिता यही तुम्हारा घर तुम ही हो इसलिए हजार माता पिता से हित इसने आवेदन ये सूत्र निरपेक्ष वेद प्रमाण है हाँ, माता पिता हजारों से भी हित उपदेश करने वाले वेद से उपदिष्ट मार्ग है आत्मिकत्व दर्शनम एक में वादित्यम श्रुति कहती स्पष्ट आत्मिक तो दर्शनम इसको आदरण करना चाहिए शांत दर्प ही शांत दर्प है ये शाम दर्प घमंड है तो कहें हम क्यों मानेंगे हमारे तो मत ऐसा है हमारे मत ही है अपने मत को ले करके बस अपने मत ऐसा है उसको मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे तो क्या होगा वेद सूर्य को नहीं मानेगा अंत तो सूर्य काला हो जाता है क्या तो अपने मत मानकर जो नहीं मानेगा वो उसकी अपनी हानि है इसे इस दर्प घमंड छोड़ करके वैदिक दर्शन को आदर करना चाहिए विचार करके निरपेक्ष होकर विचार करके श्रुति वाक्य स्पष्ट जान करके उसको ग्रहण करना चाहिए यहाँ भवन भाष्यकार कहते भाष्यकार का मत कोई अपना मत नहीं है वैदिक मत का स्पष्टीकरण इसे स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत मतभेद बहुत व्याख्यान है अलग अलग दर्शन है किंतु उसमें कोई दर्शन सब दर्शन वास्तव नहीं है एक तत्व है रज्जु है तो रज्जु सर्प है तो सर्प जो कहता रज्जु और जो कहता सर्प जो कहता भूछिद्र जो कहता माला सब सारा बराबर है सब समान होंगे इसलिए एक तत्व को परीक्षा करके इसलिए श्रवण करना पड़ता है अलग-अलग मत है कुछ नहीं जानकर किसी मत का किस पहुंच गया कुछ रह गया किंतु उसको अपने लाकर बैठा तो जो उपदिष्ट उस तत्व का ग्रहण नहीं होगा शांत दर्पे दर्प को छोड़ करके श्रुति सिद्ध है अद्वैत दर्शनम आदरणीयम इत्यर्थ इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य शंकर भगवत कृतो काठक उपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम ओम सहना भवतु